कह दो कि ए अहले किताब जब तक तुम तौरात और इंजील पर और जो किताब तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास अब भेजी गई है उसकी पूरी पाबंदी नहीं करोगे तुम्हारी कोई बुनियाद नहीं होगी जिस पर तुम खड़े हो सको और ए रसूल जो वही अपने परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाजिल की गई है वो उनमें से बहुत सों की सरकशी और कुफर में मजीद इजाफा करके रहेगी लिहाजा तुम उन काफिर लोगों पर अफसोस मत करना